और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो लेटे बैठे और खड़े हुए हर हालत में हमें पुकारता है फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो इस तरह चल खड़ा होता है जैसे कभी अपने आप को पहुंचने वाली किसी तकलीफ में हमें पुकारा ही ना था जो लोग हद से गुजर जाते हैं उन्हें अपने करतूत इसी तरह खुशनुमा मालूम होते हैं